द्वार शरम एकादशद्वारमजत्या वक्तृचेतसः अनुष्ठाय न सूचति विमुक्त विमुच्यते एतद वही तत् हंस सुशिषत वसुरंत वसुरंतरिक्षसद होता वेदी वेदिषद अतिथिर तत् नृषद वरसद ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा रेखाम बृहत ओम फलतु और भुनकु दोनों का अर्थ सामान्य रूप से रक्षा करे होता है परंतु दो क्रियापद का जो प्रयोग किया गया ना अवतु और गुणक तो रक्षा के दो रूप विलक्षित हैं जैसे एक आदमी पर कोई विपत्ति हो और उसको कोई दुश्मनों से बचा दे देर से बाघ से भेड़िया से बचा दे और दूसरे चाहे उसको अपने घर में ले आए भोजन कराए सुलाए घर पहुंचने की व्यवस्था कर रहे और जिंदगी भर खाने पीने की व्यवस्था कर रहे तो रक्षा दो प्रकार की हुई एक शत्रुओं से बचाने वाली और एक उसके पालन पोषण की व्यवस्था तो संरक्षण अलग वस्तु है और पालन पोषण अलग वस्तु है तो ये जो हम लोग अध्ययन करते हैं अभीता ये जो हमारा अधीत है ये काम क्रोधादि अशांति के हेतुभूत शत्रुओं से हमारी रक्षा करें और समाधि संपत्ति दे करके हमारा पालन करें और हम बच्चा और श्रोता दोनों सह निर्जन करवा रहे एक प्रकार की जैसे पति पत्नी की रति होती है ना वैसी जिह्वा और श्रोत्र श्रोत्र सस्कुली और वाक इन दोनों की रति संपन्न हो गई सहल गिरिजन सरवा भाई माने हम दोनों ये प्रयास करें कि तत्व ज्ञान का उदय होकर अज्ञान की निवृत्ति हो जाए नौ अधीतम नौ आवयोह अधीतम तेजस्वी अस्तु हम जो अध्ययन करें वो तेजस्वी हो ये नहीं कि वो बना रहे और उसका दुश्मन भी बना रहे ऐसा तेजस्वी हो हमारा अध्ययन कि भ्रांति को कहीं शरण न मिले ऐसा तेजस्वी हो और माँ विद्वेशा है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख जो है वो हमको प्राप्त हो क्योंकि राजद द्वेश रहते जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख नहीं मिलता है <clears throat> तो ये मंत्र जो है ये देखो कहाँ से एक तो माँ विद्वेशावय माने हमारे जीवन में जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है दूसरे विद्या उदय हो करके अविद्या को निवृत्त कर दे ये उसके पहले की बात है और सहवीर्यम करवा रही हम सब मिल करके प्रयत्न करें कि अविद्या निवृत्त हो जाए श्रवण मनन आदि करें और भुनक माने सम समाधि सदगुण संपन्न हुए और अवतु माने काम क्रोधादि दोष जो है वो दूर हुए तो काम क्रोधादि दोष की निवृत्ति समाधि सदगुण की प्राप्ति श्रवण मननादि रूप है ना अभ्यास और विद्या से अविद्या की निवृत्ति और जीवन मुक्ति इतनी बात इस एक मंत्र में कही हुई है ये कठोपनिषद का विशेष शांति बात है इसलिए इसका अभिप्राय आपको सुना देगा क्योंकि ये जमराज और नचिकेता दोनों के उद्देश्य से ही ये प्रयुक्त हुआ है कहना यवतू नल माने जमराज और नचिकेता दोनों सह नौ भुन सहनौ सह सहवीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अब वेदांत की बात प्रारंभ करता हूँ ये शरीर जो है वो एक राजधानी है तो शरीर तो अनेक वस्तुओं से बनता है और उसका राजा एक है तो इसमें इंद्रियां द्वार हैं ये जो इंद्रिय गोलक हैं आप कान नाथ जो को देखते हैं ये सब द्वार हैं ग्यारह तीन नीचे सात उदर एक फिर में और इनमें इंद्रियां इंद्रिय वृत्तियां हैं और उनमें इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं और इनमें मंत्री है रानी है पुत्र है सेनापति है धर्माध्यक्ष है ये प्रकृति मंडल जिसको बोलते हैं इसी को प्रकृति मंडल बोलते हैं अमाप्त मंडल प्रकृति मंडल मंत्रिमंडल उसमें राजा जो है वो प्रमुख होता है और वो कैसा है एक अवक्र चेता है अवक्र चेता का कल आपको जो आध्यात्मिक भाव है वो सुनाया था क्या कि सूर्य की किरणें जो हैं वो तो बादल आदि में आ करके वक्र हो जाते हैं और रंगीन हो जाते हैं रंगीन दिखने लगते हैं रंगीन होती नहीं है रंगीन दिखने लगते हैं परंतु ये जो आत्मदेव हैं प्रकाशक स्वरूप इनमें वक्री भवन नहीं होता है माने अंतकरण की जो परिणम माना वृत्ति है बदलती हुई वृत्ति है परिणम माना माने बदलती हुई घटाकार हुई फिर उसको छोड़ के तटाकार हुई फिर मठाकार हुई स्त्री आकार हुई पुत्राकार हुई धनाकार हुई अंतकरण की वृत्ति बदलती रहती है और ये महात्मा जो हैं ये अवक्र चेता है किसी के बदलने से बदलते नहीं इनका चेत माने विज्ञान एक रस है अब जरा उधर से देखो जैसे राजा ऐसा होना चाहिए स्त्री समझे रानी समझे कि हमारे अनुकूल है अरे हम जो कहते हैं सो ही करते हैं और मंत्री समझे कि हमारे अनुकूल हैं पुत्र समझे कि हमारे अनुकूल हैं सेनापति समझे कि हमारे ही अनुकूल हैं हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं प्रजा समझे यदि हमारे लिए तो ये सब कुछ छोड़ सकते हैं तो प्रजा मंत्री सेनापति रानी पुत्र कोषाध्यक्ष सबको जिसमें आनुकूल्य का भान हो कोई अपना दुश्मन न समझे हमारे ऊपर उनका हाथ है हमारे साथ उनकी शक्ति है हमारे साथ उनका प्रेम है उसको राजा बोलते हैं हो अवक्र पीतसा जो कुटिल नेत्र से किसी को न देखे सबको सबके ऊपर अपना गर्द हस्त रखे उसका नाम राजा होता है अधिकारों से रहित जन्म सब्जार आत्मा के बिना मुर्गा भी नहीं होता हाँ ये जो जिंदा रहने वाले हैं ना वो समझते हैं कि शरीर में रहने वाली एक चेतना का नाम एक होश का नाम आत्मा है मैं बेहोशी का जो साक्षी है उसको आत्मा बोलते हैं गार सुसुप्ति में गार समाधि में गार बेहोशी में जो एक रस ज्यो का क्यों उसको देखता रहता है तो बोले कि फिर हर शरीर में अलग हो अब जरा एक बात सुनाता हूँ आपको पहले एक बालक था तो समझो कि सन बयालीस से ही छोटी उम्र का था उस समय उसकी उम्र तेरह चौदह बरस की थी सत्संग में आना शुरू किया हमारे पास आता था उसके माँ बाप और वो तो माँ बाप बड़े कट्टर वेदांति थे तो माँ तो सन्यासिनी हो गई बाप अभी दुकान कर रहा है और <laughs> माँ तो स्वामी निर्मलानंद जी के आश्रम में रहती है में तो वो लड़का जो है वो कोई बात सुनी नहीं उससे कोई कहे मिठाई क्यों खाई बोले मैं खाने वाला थोड़ी हूँ मैं तो दृष्टा हूँ बोले बदमाशी क्यों की स्कूल में बोले मैं तो दृष्टा हूँ मैं करने वाला थोड़े हूँ तो समाचार मार उसके बाद बोले कि अब तो बोले मैं दृष्टा हूं मुझे घाव नहीं लग रहा और रोता है बोले मैं रोता थोड़ी मैं रोने का दृष्टा और वह कोई न चले बात ही न चले उसके सामने तो विपिन बाबू ने एक दिन उसको बैठाया अपने पास मिश्रा जी ने और बोले कि अच्छा ये बात बताओ कि तो रोने के हंसने के चोरी के बदमाशी के सबके दृष्टा हो मैं क्या हूं तो बोले कि तुम भी दृष्टा हो ऐसा तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक दृष्टा तुम और एक दृष्टा मैं तो दो दृष्टा हुए कि नहीं हुए तो बोला कि हाँ दृष्टा तो दो हैं है? जितने शरीर हैं जितने शरीर हैं उतने दृष्टा हैं तो विपिन बाबू ने कहा कि बस अब फेल हो गए तुम तो, है ना अब फेल हो गए क्योंकि दृष्टा को अनेक मानना ये किसी भी जुक्ति और अनुभव से सिद्ध नहीं हो सकता कहने का अब फेल हो गए भाई तो एक योग दर्शन में दृष्टा मानते हैं एक सांख्य दर्शन में दृष्टा मानते हैं ना और एक वेदांत दर्शन का दृष्टा है तो योग दर्शन और सांख्य दर्शन में जिसको दृष्टा कहते हैं वो वो निरोध दशा में चित्त के निरोध दशा में तो दृष्टा है है ना आपको योग दर्शन की बात सुनाते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध सदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानाम योग माने चित्त वृत्ति का निरोध निरुद्ध वृत्ति जब होती है तब दृष्टा उस निरोध के साथ तादात्म्यापन्न न होकर के अलग होकर उसको देखता रहता है लेकिन क्योंकि अंशाकरण अनेक है कोई निरुद्ध है कोई विक्षिप्त है कोई मूढ़ है तो मूढ़ अंतकरण का दृष्टा विक्षिप्त अंतकरण का दृष्टा निरुद्ध अंतकरण का दृष्टा जितने अंतकरण उतने दृष्टा है ना ये बात योग दर्शन में मानी जाती है और वो कहते हैं कि जन्म मरण करा एक के जन्म से सबका जन्म नहीं होता एक की मृत्यु से सबकी मृत्यु नहीं होती एक का अंतकरण सबका अंतकरण नहीं है, है और एक के सुखी होने से दुखी होने से दूसरा सुखी दुखी होता नहीं इसलिए दृष्टा अनेक है और जब हम व्यवहार में आते हैं तो वृत्ति सारूप्यम तरह लोक दशा से अतिरिक्त दशा में हम वृत्ति के साथ एक हो जाते हैं वृत्ति सारूप्य हो जाता है माने वृत्ति अगर गधाकार तो दृष्टा भी गधाकार गर्भाकार वेदांत कहता है कि नहीं चाहे चित्त की दशा विक्षिप्त हो चाहे निरुद्ध हो दोनों दशा में दृष्टा दृष्ट ही दृष्टा ही रहता है लेकिन दृष्टा अनेक है ये सिद्धांत सांख्य ही मानता है वेदांत जो दृष्टा का विवेक करता है कि ये जो फूल है इसका दृष्टा है ये इस प्रसंग में बहुत बढ़िया हंसक सूचिषद बसुर अंतरिक्ष इस मंत्र में आप देखेंगे बहुत बढ़िया ढंग से समझाया हुआ है तो वेदांत में दृष्टा का स्वरूप क्या है स्वयं पद के लक्ष्यार्थ को ही दृष्टा कहते हैं बोला आप वेदांत के इस वेदांत की इस प्रक्रिया को समझो क्योंकि दो तीन बात समझे बिना योग सांख्य और वेदांत का क्या भेद है ये बात जल्दी ध्यान में नहीं आती है एक तो वेदांत का प्रयोजन केवल दुख की निवृत्ति नहीं है सांख्य और योग का जो प्रयोजन है वो केवल दुख की निवृत्ति है परमानंद की प्राप्ति नहीं है तो जिस समय हम किसी भी चीज के दृष्टा हो जाते हैं उस समय उससे होने वाले सुख और दुख दोनों के दृष्टा हो जाते हैं तो दुख का अत्यंत भाव हो जाता है और सुख का भी अत्यंत भाव हो जाता है माने संसार से के सुख और दुख से बचने की प्रणाली जो है वो भ्रष्टा के अपने स्वरूप में अवस्थान है दृष्टा अपने स्वरूप में बैठ गया और बड़ी अशांति थी कि थोड़ी देर चित्त शांत हुआ और दृष्टा होकर बैठ गए तो दुख की निवृत्ति हो गई लेकिन वेदांत दुख निवृत्ति को ही जीवन का प्रयोजन नहीं स्वीकार करता दुख निवृत्ति के सिवाय परमानंद की प्राप्ति को ही जो आपको वो मंत्र में सुना सहना सहनौ भुनस्तु अवत्व माने दुख से हमारी रक्षा करे और गुणत्व माने हाँ परमानंद का ध्यान करे हो परमानंद का अभी रहे तो एक तो ये बात ध्यान में रखने की है दूसरे वेदांत जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख मानता है मरने के बाद मुक्त होंगे तो नहीं विमुक्त विमुच्यते मंत्र में है ना विमुक्त विमुच्यते जिस समय ये ज्ञान होगा आपको उसी समय आप जान जाएंगे कि मैं पहले से मुक्त था मुक्त हूँ मुक्त रहूंगा इसका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है तो चाहे हम दृष्टा भाव में रहें चाहे न रहें मुक्ति अपना निज स्वरूप है ये जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख जो है ये वेदांत का प्रयोजन है बोला परमानंद की प्राप्ति और जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख अच्छा और तीसरी बात इसमें ध्यान रखने की ये है कि ये जो वेदांत का दृष्टा है वो एक शरीर में रह करके उस शरीर का दृष्टा नहीं है ये संपूर्ण जगत का दृष्टा है बोला तो एक अंतकरण की वृत्तियों का जो दृष्टा होना है वो वेदांत का दृष्टापन नहीं है तो ये बात क्या है हम आपको वेदांत सुनाना चाहते हैं असल में वो क्या है माने जो उपनिषद है जो वेदांत दर्शन है है ना शांकर संप्रदाय में जिसको अद्वैत के नाम से जिसका निरूपण किया है उसके बाद तो ये कहते हैं कि यदि तुम दृश्य से पृथक हो गए जान लिया अपने को कि मैं दृश्य से पृथक हूँ तो तुमसे ये सवाल है कि ये दृश्य क्या है जिससे तुम अलग हुए हो बोले तो हम नहीं जानते बाबा हमारा क्या मतलब दृश्य से ऐसे तो बाहर में जाए है ना दृश्य से धार में जाए माने दृश्य के बारे में तुम अज्ञान स्वीकार करते हो इसका अर्थ हुआ तो अपने को सिद्ध वस्तु दृष्टा भी जानना और दृश्य के बारे में अज्ञान भी स्वीकार करना ये वेदांत का सिद्धांत नहीं है <coughs> हाँ। वेदांत के सिद्धांत में तीन बात नहीं सिद्ध होगी है ना क्या एक तो अपनी मृत्यु और दूसरे अपने में अज्ञान और तीसरे अपने में दुख क्योंकि जो आनंद है उसमें दुख नहीं जो चित्त है उसमें अज्ञान नहीं और जो सत है उसमें मृत्यु नहीं तो यदि तुम अपने स्वरूप में अज्ञान को स्वीकृति देते हो कि दृश्य क्या है कहाँ से आया है कहा जाएगा दृश्य क्या है बोले हम नहीं जानते बाहर में कुछ भी हो है ना बोले कुछ भी हो ये कहना माने दृश्य के बारे में अज्ञान को स्वीकृति देना तो वेदांत क्या शिक्षा देता है वेदांत का प्रारंभ ही यहीं से है बोला एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान ये भूल नहीं जाना आप दृष्टा को तब ठीक ठीक जान जाओगे जब दृश्य को भी ठीक ठीक जान जाओगे एक विज्ञान से सर्व का विज्ञान ये वेदांत एक विज्ञात है सर्वम विज्ञातम भवती ये वेदांत की प्रतिज्ञा है वेदांत की प्रतिज्ञा है कि एक ऐसी वस्तु है जिसका विज्ञान जिसका अनुभव जिसका ज्ञान हो जाने पर सर्व का विज्ञान हो जाता है इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए वेदांत प्रारंभ हुआ है हाँ। प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधा ये प्रकृति अधिकरण है ब्रह्मसूत्र का बोला प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधा प्रकृति ब्रह्म का ही नाम है प्रकृति किसी दूसरी वस्तु का नाम नहीं है ब्रह्म के जैसे हजारों नाम हैं वैसे एक नाम उसका प्रकृति भी है प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टांतान उपरोधा क्योंकि प्रतिज्ञा जो है एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान उसका उपरोध हो जाएगा यदि दृश्य दृष्टा से जुड़ा होगा यदि दृश्य ब्रह्म से जुड़ा होगा जिससे तुम अपने को अलग जान के बैठे हो वो चीज अगर तुमसे जुदा होगी तो एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई और दूसरे प्रतिज्ञा दृष्टांतानुपरोध दृष्टान्त क्रोध होगा दृष्टांत क्रोध क्या होगा जो एक लोह के ज्ञान से सर्व लोह का एक मृतिका के ज्ञान से सर्व मृतिका का एक सोने के ज्ञान से सर्व सोने के ज्ञान का जो दृष्टांत है यदि तुमने दृश्य से अलग हो करके और दृश्य को अज्ञात छोड़ दिया तो सोना लोहा और बुद्धि का जो दृष्टांत था तो झूठा पड़ गया और एक के विज्ञान से जो सर्व की प्रतिज्ञा थी वो झूठी पड़ गई इसलिए वेदांत का ज्ञान पूरा होगा कहाँ जहाँ तुम्हारे सिवाय देश काल वस्तु इनकी विविधता और इनका बीज ये सारा का सारा जब बाधित हो जाएगा न दृष्टा दूसरा रहेगा है ना न दृश्य दूसरा रहेगा और न ईश्वर दूसरा रहेगा दृश्य में देश काल वस्तु तीनों का समावेश कहा है दृश्य में हाँ ये सजातीय भेद हुआ हो दृश्य में दृश्य में देश काल वस्तु ये दृष्टा से विजातीय है और दृष्टा से दृष्टा सजातीय हैं और दृष्टा से ईश्वर भी चैतन्य होने के कारण सजातीय है और दृष्टा का परिणामी होना ये स्वगत है दृष्टा न तो खुद बदल के दृश्य होता है न तो एक दृष्टा के सिवाय दूसरा दृष्टा है न तो दृष्टा के सिवाय ईश्वर है न तो दृष्टा के सिवाय दृश्य है जिससे पहले तुमने अपने को अलग किया था वो तो अलग विवेक के लिए किया था वो तो तुम्हारे सिवाय है ही नहीं तो <clears throat> इसलिए पंचदशी कार में वेदांत और सांख्य का सामंजस्य कहाँ है ये बात जब बताई ना तो जीव भेदो जगत सत्याम ईशोन्य इस चेत त्रयम त्यजते सही तदा सांख्य योग वेदांत सम्मते पंचदशी कार ने कहा कि तीन बात अगर सांख्यवादी और योगवादी छोड़ दें तो वेदांत के साथ उनका मत मिल जाता है तो तीन कौन सी बात बोले एक तो जीव अनेक हैं दृष्टा अनेक हैं ये बात छोड़ दें जीव भेदो और दूसरी बात ये दृश्य चर्चा है ये बात छोड़ दें और तीसरी बात कि दृष्टा से अन्य कोई परोक्ष ईश्वर है ये तीसरी बात अगर ये तीन बात सांख्य और योग छोड़ हैं तो वेदांत से उनका कोई मतभेद नहीं रहेगा वेदांत से मतभेद मिटाने के लिए दृश्य दृश्य की सत्यता जीव की अनेकता और ईश्वर की अन्यता ईश्वर की अन्यता जीव की अनेकता और दृश्य की सत्यता ये तीन बात जब बाधित होगी कटेगी तब ये दृष्टा जो है वो अद्वय ब्रह्म है ये ज्ञान होगा तो वेदांत की कुछ विशेषता बताने के लिए है ना अवक्र ये तो महाराज अवक्र है हाँ इसको तो आपके कोयले में भी यही है और प्रकाशमान सूर्य में भी यही है न सूर्य के प्रति वक्र है न कोयले के प्रति वक्र है कोयले से विलक्षण होकर कोयले के रूप में प्रतीत होकर है कोयले की आत्मा है और सूर्य से विलक्षण है और सूर्य के रूप में प्रतीत हो रहा है और सूर्य की आत्मा है अवक्त चेता है एक तीसरी बात आपको वेदांत के संबंध में ये ध्यान रखने की बताता हूँ वेदांत साधन नहीं है वेदांत प्रमाण है ये बात अगर समझ में नहीं आ रहे तो आदमी को हजार वर्ष भी अभ्यास करने पर है ना वेदांत का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा हजार बरस और हजार योगी है ना महायोगी परमेश्वर स्वयं परमेश्वर भी जब समझाएगा तुम्हारे सामने परमेश्वर कृपा करके साकार रूप से प्रकट हो जाए और समझाए तो वो प्रमाण द्वारा ही समझाएगा अभी मैं ब्रांगड़ा गया था ना तो सुरेंद्र नगर से कॉलेज के लड़के आए पास बोले महाराज अन्न संकट कैसे दूर होगा मैंने कहा उत्पादन बढ़ाने से होगा बोले महाराज आप अपनी तपस्या की शक्ति से दुनिया में अन्न नहीं बढ़ा सकते मैंने कहा हमारी शक्ति जो है वो अवैज्ञानिक ढंग से काम नहीं करेगी वैज्ञानिक ढंग से काम करेंगे तुम लोग जो जवान हो जब तुमको सिंचाई के काम में लगावेगी खाद बांटने के काम में लगावेगी हैं? जब हमारी शक्ति बोले कि नहीं महाराज शक्ति तो कुछ विलक्षण होती है मैंने कहा देखो जब कोई स्त्री आवेगी हमारे पास कि महाराज आशीर्वाद दो बेटा हो जाए हैं? तो क्या हम उसको ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं कि बिना पुरुष संजोग के बेटा हो जाए हमारा आशीर्वाद भी तो कहीं काम करेगा तो वैज्ञानिक ढंग से उसका कोई विज्ञान होगा उसकी रीति से होगा बिना वैज्ञानिक रीति के आशीर्वाद आशीर्वाद कैसे काम करेगा जब कोई कहेगा कि हम किसी का मुंह देखना चाहते हैं तो हम पहले उसको आंख दे लेंगे तब में वो मुंह देखेगा माने मुंह देखने के लिए आंख का होना का होना जरूरी है तो प्रमाण माने क्या होता है प्रमाण किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करता और प्रमाण किसी वस्तु को मिटाता नहीं ये आंख हमारी प्रमाण है इसमें रूप में बोला अगर रूप देखना हो तो आंख चाहिए और शब्द सुनना हो तो कान चाहिए गंध सूंघनी हो तो नाक चाहिए स्वाद लेना हो तो जीव चाहिए स्पर्श करना हो तो त्वचा चाहिए इन्हीं को प्रमाण बोलते हैं प्रमाण और हम सोए थे कि नहीं ये जानना हो तो आप स्वयं प्रमाण होंगे कि कोई तो दूसरा होगा एक ने कहा तुम्हारी नाक घर घर कर रही थी तुम सो गए थे तो दूसरे ने कहा हम तो जान बूझ के बजा रहे थे है ना हम तो जान बूझ के बजा रहे थे हम नहीं सोए थे तो अपनी सुशुक्ति में प्रमाण कौन होगा तो स्वयं होगा ना स्वयं होगा अपनी सुशुक्ति में प्रमाण साक्षी भाव स्वयं सुसुप्ति साक्षी भाव स्वयं सुसुप्ति जो दूसरा कोई कहे कि तुम सोए थे कि नहीं सोए थे इसमें है ना इसमें कोई प्रमाण नहीं है तो ये जो आत्मा का अद्वितीय कना है अपरिच्छिन्न कना है ये जो आत्मा का ब्रह्मपना है ये ये साधन साध्य नहीं है क्यों नहीं है ये, ये साधन साध्य नहीं है क्यों नहीं है कि जो चीज साधन से उत्पन्न होगी वो मर भी जाएगी है? अच्छा जो चीज साधन से उत्पन्न होगी वो मर जाएगी तो बोल की पहले अब साधन हम क्यों करें ठीक इस प्रश्न का उत्तर भी करें तो तुम उत्पन्न क्या करोगे और नहीं मौजूद है चीज तो साधन से उत्पन्न क्या करोगे पहले से मौजूद है चीज से तो भी साधन व्यर्थ गया और नहीं मौजूद है तो पैदा हो ही नहीं सकती तो भी साधन व्यर्थ गया तो बोले कि भाई कभी तुम वेदांत से कराते क्या हो तो वेदांत से हम ये कराते हैं कि पहले से मौजूद चीज है उसको प्रमाण से लिखा देते हैं तो चीज है उसको प्रमाण से लिखा देते हैं तब साधन की क्या जरूरत रही तो प्रमाण को ठीक ठीक प्रयोग करने की पद्धति जो है वो सीखने के लिए साधन की जरूरत होती है समझो कि बंदूक से निशाना मारना है तो आंख ठीक चाहिए ना निशाना ठीक लगना चाहिए तब लक्ष्य भेद होगा परंतु आंख में कोई दोष हो तो पहले से तो दवा डाल लो बोला और बंदूक अगर साफ न हो तो साफ कर लो तो बंदूक साफ करने के लिए साधन की जरूरत है आंख साफ करने के लिए साधन की जरूरत है लेकिन लक्ष्य वेद के लिए तो निशाना ही ठीक लगना चाहिए ना ऐसे अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रमाण की शुद्धि के लिए माने जो अंतकरण ब्रह्माकार वृत्ति से युक्त होना है उस अंतकरण में अगर कोई गंदगी है तो उसकी निवृत्ति के लिए साधन की जरूरत है लेकिन अंतिम काल जहाँ साक्षात्कार है है ना वहाँ साधन की जरूरत नहीं है वहाँ तो बिल्कुल निशाने पर वृत्ति ठीक लगनी चाहिए क्योंकि साधन से सिद्ध वस्तु भी साधन से उत्पन्न नहीं होती और असिद्ध वस्तु भी साधन से उत्पन्न नहीं होती साधन केवल करण के औजार के सेधन के लिए साधन होता है साधन वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं होता तो वेदांत की ये बात ध्यान में रखने के लिए है क्या वेदांत जो है प्रमाण से जिस वस्तु की उपलब्धि होती है एक ही बार में हो जाती है एक बार गए नारायण कहीं यात्रा कर रहे हो तो पैदल तो चलते चलते नहर के किनारे अंधेरा हो गया एक पिलरी मिली बोले भाई रात को इसी में सो जाओ और पिलरी में सफाई करके अपनी ओर से सो गए तो बाद में शंका हुई कि कहीं इसमें कोई साप न हो अब महाराज नींद ही ना आवे बार बार उठे टार्च में हाँ। तो बोले भाई एक बार पूरी तरह से देख लो इसमें बिल है कि नहीं इसमें सांप आने की जगह है कि नहीं रहने की जगह है कि नहीं अरे एक बार देख लिया और फिर सांप पे पत्ता सो गया ये सांप नहीं है ये तो रस्सी है देख लिया कि सांप नहीं है रस्सी है और जब रस्सी को जान लिया अधिष्ठान या का वेद हो गया है ना सांप भी पत्ता सो गए ये उपासना नहीं है ये भावना नहीं है ये ध्यान नहीं है बोला ये जो ब्रह्म विज्ञान है ये प्रतिपत्ति का अंग नहीं है बोला प्रतिपत्ति माने एक बार जाना और एक बार पाया इसमें जानना और पाना दो बार नहीं होता क्योंकि जो ज्ञान दूसरे के बारे में होता है उसमें जानना अलग और पाना अलग होता है और जो ज्ञान अपने बारे में होता है उसमें जानना और पाना बेदार नहीं होता तो वेदांत जो है वो अपने आत्मा अपना आत्मा है हम स्वीकार कहते हैं जहाँ व्यास भाष्य की व्याख्या प्रारंभ हुई ना वहाँ कहते हैं कि देखो विचार दो बारे में किए दो बात के बारे में किया जाता है है ना एक तो बात में संदेह हो गए है ना संदेह हो गए और एक प्रयोजन हो गए प्रयोजन हो तब विचार किया जाता है और संदेह हो तो संदेह की निवृत्ति के लिए विचार किया जाता है एक गीतालोक मध्यवर्ती घट है बिल्कुल आदमी बैठा है अब यहाँ माधव जी बैठे हैं कि नहीं इस पर कोई मीमांसा करने की जरूरत है, यहाँ आदमी बैठा है कि नहीं इस पर कोई सोच विचार करने की जरूरत है बोले नहीं बोले कौआ पकड़ के ले आओ हम देखेंगे उसके मुंह में दांत होता है कि नहीं अरे कोई मतलब है दांत की कोई दवा बनती है कोई तारीफ बनती है बोले तो सोते नहीं चले जान कौआ पकड़ कर ले आए हम देखेंगे कि उसके दांत है कि नहीं है कर्क दंत परीक्षा बोले निष्प्रयोग है पहले एक प्रयोग है उससे कोई मतलब निकलता हो तब कौए के दांत की परीक्षा करें है? और संशय हो कि यहाँ आदमी बैठा है कि नहीं तब उसको देखें ये आत्मसत्ता जो है ना आत्मसत्ता ये आलोक मध्यवर्ती घट के समान साक्षात रूप है कि आत्मा है मैं हूँ इस पर विचार करने की जरूरत पड़ा मैं हूँ मैं जानता हूँ और मैं परम प्रिय इस पर विचार करने की जरूरत है ना बोले कि ठीक है सामान्य रूप से मैं हूँ मैं जानता हूँ मैं प्रिय हूँ ये मालूम है परंतु मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ ये तो तुमको नहीं मालूम है ना तो आओ विचार करो कि ये आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है कि नहीं दुनिया में जितने हिंदू मुसलमान पारसी सिख यहूदी हैं सब मैं हूँ कि नहीं ये विचार करना है इंद्र चंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा विष्णु महेश ये कहते हैं तो सब मैं हूँ कि नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें भाग रहे हैं है ना वो अनंत कोटि ब्रह्मांड मैं ही हूँ कि नहीं ये देखना है बोले तो ये भी कहे के दांत की परीक्षा के समान व्यर्थ है तो नहीं व्यर्थ नहीं है तब प्रयोजन है तो क्या सब प्रयोजन है कि अभी जो हिंदू के मुसलमान से द्वेष होता है और मुसलमान के हिंदू से है? पारसी को सिख से सिख को पारसी से ईसाई को बौद्ध से बौद्ध को ईसाई से ये जो देश होता है और ये जो मालूम पड़ता है ये हमारा प्रांत है ये हमारी धरती है ना हमारा राष्ट्र है हमारी धरती है अरे हमारा ब्रह्मांड है और जो सबसे देश हो देश रागत देश भाई भतीजे का पक्ष होता है और दुश्मन से द्वेष होता है ये जो अंतकरण की स्थिति होती है क्यों होती है इसलिए कि तुम अपने को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में नहीं जानते है ना इसका प्रयोजन हुआ ना क्या जिस राग देश के कारण हम जीवन में दुखी हो रहे हैं देह का देह संबंधी राग द्वेष परिवार संबंधी राग द्वेष जाति संप्रदाय संबंधी राग द्वेष प्रांत राष्ट्र पृथ्वी ब्रह्मांड मंडल संबंधी राजद आपको क्या बताने वैकुंठ में जाए कि गोलोक में इस बात को लेकर के वेश होता है, है? हाँ। खुदा का जो गृहस्थ है गृहस्थ जो स्वर्ग राज्य है ना उसमें हाँ, इंद्र रहता है कि नहीं मुसलमान कहते हैं बिल्कुल नहीं रहता हिंदू कहते हैं कि रहता है इसके लिए सिर्फ रजल होती है तो ये जो बेवकूफी के कारण अज्ञान के कारण जो सृष्टि में राग द्वेष हो रहा है इस राग द्वेष को नितान्त निवृत्त करके जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख जब मिलता है तो सब प्रयोजन हुआ ना अपनी अद्वितीयता का जो ज्ञान है वो सब प्रयोजन हुआ और संसार के विचार को छोड़ देना है ना ये अज्ञान की स्वीकृति हुई अज्ञान की स्वीकृति हुई संसार के विचार को छोड़ना नहीं विचार करो कि ये संसार जो भाग रहा है तो क्या है ये स्त्री क्या है पुत्र क्या है धन क्या है जाति क्या है संप्रदाय क्या है ये धरती ये है राष्ट्र क्या है प्रांत क्या है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी नदी आ गई अब नई कौन सी कौन सा समुद्र आ गया है ना कौन सी कौन सी रस्सी खींच गई दोनों के बीच में कौन सा पहाड़ आ गया ये जो अपने मन में अपने मन में जो द्वेष हो हो करके जलाता रहता है ये द्वेष मिटता है ये द्वेष मिटता है ये राग मिटता है नारायण अपनी अद्वितीयता के ज्ञान से अगत्या वक्र तथा ये अजन्मालम्ब एक ये दृष्टा नारायण अवकृति का है सबसे विलक्षण है सब में अनुगत है इसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है और ये बात जिंदगी भर दोहरा ये जप नहीं है बना बोले आओ माला लेने हम ब्रह्मात्मी हम ब्रह्मात्मी है इस जप का नाम हम ब्रह्मात्मी नहीं है है ना सकल विभागम एक बार ये बात टूट जानी चाहिए कि मैं परिच्छन हूँ बस और ये कैसे टूटनी चाहिए मान्यता से नहीं ये साधना से नहीं स्थिति से नहीं है ना ये प्रमाण से टूटनी चाहिए तो प्रमाण इसके संबंध में क्या है बहुत मजेदार बात है ये देखो अपरिच्छिन्नता के संबंध में आप प्रमाण हो सकते हैं आप कह सकता है कि आंख बताएगी कि सब अपरिच्छिन्न है ऐसा एक खुर्जमीन बनेगा वो बताएगा कि सब अपरिच्छिन्न है वैज्ञानिक लोग एक मशीन बना लेंगे और उससे कहेंगे कि अपरिच्छिन्न है ये बात हमने देख ली गोविंदाय नमो नमस्कार करो है? कोई भी परिच्छिन्न यंत्र अपरिच्छिन्न को नहीं बता सकता शांत यंत्र अनंत को नहीं बता सकता है ना जड़ यंत्र चेतन को नहीं बता सकता तब इसके लिए अच्छा हम खुद जानेंगे तो खुद जाने वाली बात ही व्यर्थ है बोला तो क्यों व्यर्थ है तो जो जाना जाएगा तो हमसे छोटा होगा और जानने वाले हम बड़े होंगे बस हम अपने आप को जान लेंगे तो अपने आप को जानोगे तो एक जानने वाले तुम और एक जानना जाना जाने वाले तुम हाँ, ये वेदांत की दृष्टि है तब बोले कि भाई फिर जो करण रूप प्रमाण से जो वस्तु अज्ञात होती है जहाँ हमारी आंख नहीं पहुँचती है वहाँ के बारे में कोई आके बताता है ना ये ऐसा है जाके हम तो देख सकते हैं शब्द प्रमाण कहाँ होता है शब्द प्रमाण वहाँ होता है जहाँ हमारी आंख नहीं काम करती है ना बाघ ज्योति प्रमाण कब होती है आप जानते हैं बाघ ज्योति कब प्रकाश देती है आप अंधेरे में बैठे हो तो कोई आया लेकिन पूछा कौन है भाई बोल दीखता नहीं है बोले अरे कुछ अनुमान तो लगाओ बोले कि नहीं अंदाज नहीं होता है क्या हुआ आंख हार गई और मन हार गया मन हार गया इसको तो मनोज्योति बोलते हैं जाग नेत्र ज्योति हार गई और मनोज्योति हार गई वहाँ उसने कहा मैं और श्याम सुंदर हूँ है ना तो बाघ ज्योति ने वहाँ प्रकाश दिया हाँ भाई आवाज तो वही है श्याम सुंदर की है बाघ ज्योति ने काम दे दिया हो जहाँ नेत्र ज्योति हार जाती है और जहाँ मनोज्योति हार जाती है इसीलिए सुसुप्ति दशा में भी जब हम किसी का नाम लेकर पुकारते हैं तो वहाँ मनोज्योति नहीं होने पर भी नेत्र ज्योति नहीं होने पर भी वहाँ बाघ ज्योति प्रकाश करती है हाँ। शब्द शक्ति रचिंत्यवाद विद्मस्तम मोहानता शब्द जाकर के सुशुक्ति को तोड़ देता है तोड़ देता है सुशुक्ति को तो इस अज्ञान भ्रांति को निवृत्त करने के लिए हाँ। वेदांत ज्योति है हो इसका नाम वेदांत ज्योति है ये नेत्र ज्योति से मनोज्योति से बुद्धि ज्योति से ये मन का दृष्टा बुद्धि का दृष्टा नेत्र का दृष्टा अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म नहीं जानता ये कैसे जानता है तो बोले ये दास ज्योति से वेदांत ज्योति से वेदांत ज्योति से इसका प्रकाश होता है नारायण विचार सागर चाहे पढ़ो चाहे वृत्ति प्रभाकर पढ़ो चाहे पंचदशी देखो चाहे इसको जानने वाले जो महापुरुष हैं उनके शब्द को सुनो है ना और वो संस्कृत में न बोले जिस बोली में तुम समझते हो उस बोली में बोलो परंतु इंद्रियों से और अंतकरण वृत्तियों से अज्ञात जिस अद्वितीयता का संस्कार अंतकरण में बिल्कुल है ही नहीं है? उस वस्तु को प्रमाणित करने के लिए वाघ ज्योति आवश्यक है बाघ ज्योति वही वेदांत बताता है तो आओ भाई परमात्मा का अनुसंधान करें कैसे अनुसंधान करें और एक बार हो एक बार दिया चलाई जलाई देख लिया रस्सी है साफ नहीं है उसके बाद अंधकार ही रहे और वो रस्सी सर्पवत ही प्रतीत हो गए लेकिन भ्रम नहीं होता है एक बार सूर्योदय और सूर्यास्त से अन्वय व्यतिरिक करके जान लिया कि पूरब कौन है और पश्चिम कौन है तो भले आप उल्टा बतावे लेकिन बुद्धि जो है तब वो भ्रम से मुक्त हो जाती है इसी प्रकार इस दृश्यमान प्रपंच के संबंध में ऐसे नहीं आवे तो वेदांत वाक्य से वेदित जो दृष्टा है सो ब्रह्म है ब्रह्म में माया कल्पित है ब्रह्म में अविद्या है ही नहीं बोला तब ब्रह्म में प्रकृति और महत्व कहाँ से आए ये तो ब्रह्म ही प्रकृति महत्व के रूप में दिख रहा है तो तब उसमें अहंकार और अंतकरण कहाँ से आया इसमें अनंत प्रसंग तन्मात्रा की उत्पत्ति होकर के कोटि कोटि ब्रह्मांड कैसे बने इसमें संतभूत कहाँ से आए इंद्रियां कहाँ से हुई ये इतनी जीव जातियां कहाँ से हुई अरे बुध अद्वितीय ब्रह्म में ये सब बिना हुए भाग रहा है और नहीं तो जितनी जीव जातियां हैं जितने परिच्छि पदार्थ हैं ये सब पंचभूत में पंचभूत पंच तन्मात्रा में पंच तन्मात्रा अहंकार में अहंकार महत्व में महत्व प्रकृति में और प्रकृति जो है वो अपने अधिष्ठान भूत ब्रह्म से पृथक नहीं है दृष्टा से पृथक नहीं है और ये जो दृष्टा है ये देश काल वस्तु की कल्पना से रहे ब्रह्म है चाहे उधर से आओ और चाहे उधर से आओ ये बाधक प्रक्रिया हाँ, ब्रह्म की ओर से आओ तो बाघ और पंचभूत की ओर से जाओ तो लय लय प्रक्रिया का चिंतन करके तो ये चिंतन हुआ और प्रमाण जो है वो चिंतन नहीं है चिंतन का नाम प्रमाण नहीं है प्रमाण तो एक ही तलवार में जो चीज को टुकड़े टुकड़े करके फेंक गए उसको प्रमाण बोलते हैं तो ये जो अद्वैत वेदांत है वो ये नहीं समझना कि हम बैठ करके आंख को जरा सिर को सीधा करें और आंख को टेढ़ी करें और दिमाग में एक खिंचाव पैदा करें तनाव पैदा करें ये तनाव पैदा करने वाली चीज नहीं खिंचाव पैदा करने वाली चीज नहीं ये तो हमेशा के लिए और हर विषय के तनाव को है ना नष्ट कर देने के लिए आ, ये वेदांत चिंतन है आ, कभी कोई ध्यान ही न करना पड़े ये ऐसा ज्ञान है कि एक बार हो जाए तो कभी कोई ध्यान ही न करना पड़े कभी कोई उपासना ही न करनी पड़े कभी कोई समाधि न लगानी पड़े अरे तुम्हारी मौज आवे जैसे खेलते हो बच्चों के साथ है ना जैसे बच्चों के साथ खेल खेलते हो वैसे कभी समाधि से खेल लो कभी ब्रह्मा विष्णु महेश से खेल लो कभी आ, कभी उपासना से खेल लो कभी योग से खेल लो कभी धर्म से खेल लो ये तो सब प्रतीति मात्र खेल हो जाते हैं कोई भी वस्तु तनाव तब तक उत्पन्न करती है जब तक वो वस्तु स्थिति नहीं होती वेदांत माने वस्तु स्थिति को है ना ज्यो की त्यों प्रकाशित करने वाला आत्मवस्तु बोला और वस्तु स्थिति को ज्यो की त्यों प्रकाशित करने वाली का ये वस्तु का इसमें तो अवक्र चेतता अवक्र चेतता अवक्र चेता मैंने है ना जिसमें खिंचाव हो तो वक्र वक्र माने चेहरा हो जिसमें तनाव हो तो वक्र ये नहीं है कि हाय हाय हमको तो मिला ही नहीं हाय हाय हमको तो खो गया अरे कुछ खोया ही नहीं है खोने का भ्रम है है ना हाँ, वो तो हमारे कभी कलम खोती है है ना कभी जावी खोती है है ना कभी कोई किताब होती है तो हनुमान जी पांच रुपए का लड्डू खा लेते हैं और फिर वो अपनी जगह पर ही मिलती है <laughs> चीज जो है चीज जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर मिलती है <laughs> और <laughs> तो वो खाते तो हम ही लोग हैं कोई हनुमान जी थोड़ी खाते हैं <laughs> उसमें कोई तनाव की बात नहीं है बोला उसमें कोई तनाव की खिंचाव की बात नहीं है लेकिन चाहे करो धर्मानुष्ठान और चाहे करो इष्ट साक्षात्कार पर्यंत उपासना और चाहे आंख धो सीधी चेरी करके और इला पिंगला सुकुमना को चढ़ा के है ना अपनी अपनी नसों को उत्तेजित करो अंत में मिलेगा वही जो है जो नहीं है वो नहीं मिलेगा बोला और है इसके बारे में असंदिग्ध यदि कोई वस्तु है है ना तो आत्मा की अद्वितीयता जो है तो वो बिल्कुल असंदिग्ध है और इसके विचार में बड़ा भारी प्रयोजन जीवन मुक्ति का विलक्षण को तो भरा हुआ है तो इसलिए अनुष्ठायन सोचती विमुक्त विमुच्य अब इस शरीर में स्वातंत्र क्या है सत्ता प्रतीति मंत्रेण सत्ता प्रतीति मत्व स्वातंत्र रानी न हो मंत्री न हो सेनापति न हो बेटा न हो है ना परंतु राजा ज्यो कहते हो राजा का कुछ बिगड़ नहीं सकता है अरे मंत्री पर मंत्री आते हैं रानी पर रानी आती है बेटे पर बेटा आता है है ना सेनापति पर सेनापति बदलता है परंतु आत्मदेव जो है तो वो तो ज्यो का क्यों है ये ये कुछ शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्त और बस परमानंद हो परमानंद तो अच्छा आप कल सुना हाँ।